ओंकार अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते विसर्ग कर्म कर्मसङ्गितः अभिभूतम् क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् दन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुस्मर मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे नारायण नारायण अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान उत्तर देते हैं इसमें मर्यादा ये है कि यदि पूछने वाला मनुष्य अपने चित्त की बात ठीक ठीक सामने रख करके पूछ ले तो उससे कई बात निकल जाती है वो जितना पूछता है उतनी बात नहीं निकलती है वो कहा बैठ करके पूछ रहा है ये बात साफ मालूम पड़ जाती है कि ये जो इसका प्रश्न है ये आध्यात्मिक स्तरों में से किस स्तर में बैठने पर उठता है और न पूछे आदमी तो वो कहा बैठा हुआ है ये बात जाहिर होना मुश्किल होता है जो अंतर्यामी सदगुरु हैं सर्वज्ञ सदगुरु हैं वो तो जान जाते हैं लेकिन साधारण रूप से अगर किसी से समाधान प्राप्त करना हो तो पूछना चाहिए बात ये ये मालूम पड़ना जरूरी है और जब तक किसी विश्वास के कारण मनुष्य अपनी जिज्ञासा को दबा लेता है तब तक तो ऐसे ही है जैसे आग पर कोई राख डालता चलता हो एक न एक दिन वो जिज्ञासा भड़केगी उठेगी जरूर दबा दबा के किसी को कोई बात नहीं मनाई जा सकती ए, ये हमारी बात है तुमको मानना पड़ेगा ऐसे कोई बात नहीं चलती है या तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा डरा दिया अब डरा करके या अपना बड़प्पन दिखा करके जो बात मनवाई जाती है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होती है तो भगवान तो एक हुक्म देते अर्जुन को बस तुमको ऐसा करना पड़ेगा मेरे ऊपर विश्वास करो मेरी बात मानो ये घंटों तक गलकुच्चन करने की क्या जरूरत पड़ती है हाँ, ये जीव जो है ये तड़ातड़ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मुंह में होती रहे बोलना पड़े इसकी क्या जरूरत है तो नहीं समझाना भी एक विज्ञान है समझना भी एक विज्ञान है उसकी भी एक जरूरत पड़ती है इसलिए प्रश्न भी ठीक और उत्तर भी ठीक कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो बिना पूछे भी बता देते हैं ब्रूयु स्निग्ध से शिष्य से गुरवो गुह्यमाप्युत अनापृष्टमपि ब्रूयुर गुरवो दीन वत्सला यदि अपना स्नेही कोई शिष्य है उसकी कोई भलाई बुराई है तो दीन वत्सल गुरु बिना पूछे भी बता देते हैं पर ऐसा देखने में आता है कि बिना पूछे बताने से शिष्य के हृदय में उसका जितना आदर होना चाहिए उतना आदर नहीं आता है और बिना ठोकर खाए आदमी मानता भी नहीं है ऐसा भी देखने में आता है जब दो जगह चार जगह जा ले दो बार चार बार घुटने टेक ले दो चार बार दस बार गलती कर ले क्योंकि मनुष्य की जो गति होती है वो एक विज्ञान के अनुसार होती है जैसे राग पहले आंख में आता है ये राग का नियम है पहले आंख में आता है फिर दिल में जाता है आ, हाँ। फिर बुद्धि उसका समर्थन करती है कि ये बिल्कुल ठीक है फिर जो उसमें बाधा डाले उससे द्वेष होता है फिर जिससे द्वेष होता है उसकी हिंसा होती है मन राग जो है वो एक मनोविज्ञान के क्रम से ही बढ़ता है तो संसार में जितनी भी गतियां होती हैं वो एक ढंग से एक ढंग से चलती हैं कोई महीने भर में प्रकट होती हैं कोई बरस भर में प्रकट होती हैं कोई दो बरस में प्रकट होती हैं पर इनका सबका हिसाब होता है इनका सबका गणित होता है तो बात सब समझने की होती है और समझाने की होती है जबरदस्ती की मान्यता ज्यादा दिन नहीं चलती है कब तक भूल डालोगे कब तक भूल डालोगे तो उसको पूछना और समझना चाहिए हमारी बात है तुमको मानना पड़ेगा नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बिगड़ जाएगा ऐसा कहने से काम नहीं चलता है स्वयं भगवान ही अर्जुन को समझा रहे हैं नहीं तो हुक्म से हुक्म ही चलता ना समझाने की क्या जरूरत होती है हाथ से बाण चलाना है भगवान ने हुक्म दिया और हाथ बाण चलाने लगते बोले नहीं मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए मन में दृढ़ संकल्प कब होगा जब समझ ठीक होगी क्रिया ठीक होने के लिए संकल्प ठीक होना जरूरी और संकल्प ठीक होने के लिए समझ ठीक होना जरूरी तो भगवान भी जब किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो पहले उसकी समझ बदलते हैं समझ बदलने से मन बदलता है मन बदलने से क्रिया बदलती है भगवान भी कायदे से ही काम करते हैं बेकायदे कोई बेकायदे कोई काम नहीं करते हैं तो शास्त्र में आया है कि न हस्ते यष्टिमादाय देवा रक्षंति साधकान देवता लोग हाथ में लाठी लेकर के अपने साधकों की प्रेम पुजारियों की रक्षा नहीं करते तो यम तु रक्षित इच्छन्ति सुबुद्धिया योजयंती तब जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको बढ़िया समझ दे देते हैं जब बात बढ़िया आ जाती है समझ जब बढ़िया आ जाती है तब मन इच्छा भाई ये चाहने लायक है ये नहीं चाहने लायक है और जो चाहने लायक है उसके लिए प्रयत्न होता है तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि समझ अच्छी होना जरूरी है केवल जिद से संसार में या कोई दबाव से हाँ, कोई काम संसार में नहीं होता है तो अब अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान उसके हृदय की जो बुद्धि है ग्रंथि है उसके हृदय में गांठ उसको खोलने के लिए बोलते हैं श्री भगवान उबाचो अब ये बोलने वाले कौन हैं बोले ये श्री भगवान है तो श्री कहते हैं जिसकी ओर सब खींच जाए उसका नाम श्री श्रीयते सर्वई ही थी श्री ही आश्रियते जिसका आश्रय सब लें तो भगवान को ऐसा लगा कि संसार के जीव इधर उधर विषयों में फंस रहे हैं भटक रहे हैं तो बोले इनको तो अपनी ओर खींचना चाहिए तो बोले कि भाई हमारी ओर तो लोग नहीं खींचते हैं हैं? तो उन्होंने लक्ष्मी को अपनी छाती पर बैठा लिया है है ना जब उनके बक्षा स्थल पर लक्ष्मी जी का दर्शन होने लगा तब लोग भगवान की ओर जाके हाथ जोड़ने लग गए एक दिन एक दिन लक्ष्मी और भगवान में लड़ाई हो गई हो हाँ, लक्ष्मी कहे कि मेरी महिमा ज्यादा है और भगवान कहे कि मेरी महिमा ज्यादा है दोनों में बड़ा प्रेम है ना तो लड़ाई हो गई अब महाराज लक्ष्मी जी हैं उन्होंने कई जगह ये बात सिद्ध कर दी बड़े बड़े भक्तों के घर में जाके आपकी जब लक्ष्मी जी आने लगी आने लगी तब उन्होंने भगवान की पूजा छोड़ दी लक्ष्मी के लक्ष्मी के आगत स्वागत में भगवान छूट गए तो श्री का अर्थ है जो श्रयति भगवंतम श्रीयते सर्वई जो भगवान के आश्रय से रहती है और सौंदर्य माधुर्य जिसमें कूट कूट के भरा हुआ है अब वे भगवान भगवान शब्द का अर्थ भी शक्तिमान होता है वो भग शब्द का अर्थ मूलतः शक्ति है तो ये शब्द तो बहुत प्रचलित है भगवती भगिनी भगिनी में भी तो यही शब्द है ना तो स्वयं भगवान सर्वैश्वर्यशाली परम सुंदर परम मधुर सबके हितैषी सबका कल्याण चाहने वाले किसी का बुरा न चाहने वाले तो दैत्य लोग तो भगवान से भी द्वेष करते हैं अपने भला चाहने वाले से भी द्वेष करते हैं भगवान दैत्यों का भला चाहते हैं वो उनकी खोल उतार उतार के उनको बैकुंठ में बुला लेते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं बोला उनकी पोशाक उतार उतार के उनको मुक्ति दे देते हैं लेकिन वो यही समझते हैं कि ये देवताओं का पक्ष लेकर के हमको मार रहे हैं मरने के समय किसका स्मरण होना चाहिए ये सातवीं विद्या है और शुक्ल पक्ष की गति शुक्ल गति कैसी है और कृष्ण गति कैसी है इन दो गतियों का वर्णन है और भगवान की भक्ति क्या है अनन्यते चेता सततम योमाम स्मरती नित्यतः सुलभ पार्थ भक्ति युक्त योगिन तो भगवान की भक्ति क्या है इस तरह से और आना जाना कौन लोग आते हैं और कौन नहीं आते हैं इन सब बातों का वर्णन आठवें अध्याय में है अब पहली विद्या उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या अर्जुन ने पूछा था किन तद ब्रह्म वो ब्रह्म क्या है उसके उत्तर में भगवान बताते हैं अक्षरम ब्रह्म परम नारायण कहो आप अक्षर शब्द का अर्थ भली भांति समझते हो कभी गौर करो तब समझ में आवेगा जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो गुजराती लिपि में क कैसे लिखा जाता है और नागरी लिपि में क कैसे लिखा जाता है और अंग्रेजी लिपि में क कैसे लिखा जाता है और फारसी लिपि में क कैसे लिखा जाता है इस बात को जानते होंगे तो लिपि वो होती है जो लीप दी जाए हाँ, कागज पर सफेद कागज पर स्याही लिपि हो गई हाँ, ताड़ के पत्ते पर थोड़ा थोड़ा सुई से अक्षर उभार दिए लेख हो गया लेख उल्लेख और पत्थर पर ताकी मार मार के खोद दिया तो उट्टंकन हो गया उट्टंकन उल्लेखन और लिपि तो ये भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है कह तो सब बोलते हैं ये बात जरूर है कोई काफ कर देते हैं कोई के कर देते हैं लेकिन क के बिना तो न के न काफ अब इसी से समझ लो कि जिसने के और काफ में से ये और आप निकाल के खाली क रखा होगा वो भाषा का विशेषज्ञ रहा होगा बोला भाषा में है ना किसी का नाम कल्पनाथ हो और काफ लिखा जाए और नाम कल्पनाथ हो और के लिखा जाए और क पढ़ा जाए नहीं जब के पढ़ना हो तो के लिखो जब का पढ़ना हो जब का लिखो है क सब में रहेगा तो देखो क अक्षर है और उसको फारसी में है ना उर्दू में सिंधी में समझो उसको दाहिनी ओर से लिख के ले जाना और अंग्रेजी में नागरी में उसको बाई तरफ से लिख के दाहिने ले जाना ये लिपि में अंतर है लेकिन क अक्षर एक है देखो सकल सूरत अलग अलग और क अक्षर एक है ना सकल सूरत तो दोनों की अलग ना उर्दू में सकल सूरत दूसरी अंग्रेजी में सकल सूरत दूसरी नागरी में सकल सूरत दूसरी इसका अर्थ हुआ कि रूप का भेद होने पर भी रूप क्षरणशील है रूप तो क्षरित हो गया झर गया रूप जो है वो तो क्षर हो गया शकल सूरत जो लिखी गई कागज पर वो तो बदलती गई लेकिन उनमें जो क अक्षर है वो एक ही रहा अच्छा आप देखो इसी तरह से क ख ग अक्षर इनको बोलते हैं ना अ आ ई अब लिपि को छोड़ो उच्चारण को लो तो चाहे अ उच्चारण करो चाहे आ चाहे ई चाहे ऊ चाहे ए चाहे क चाहे ख चाहे ग अ सब में है कि नहीं अ के बिना उच्चारण होगा नहीं अ सब में है कि नहीं अ के बिना उच्चारण होगा नहीं तो जैसे लिपियों का भेद होने पर भी अक्षर एक ही रहा वैसे उच्चारण का भेद होने पर भी सब उच्चारणों में अकार नाम का अक्षर एक ही है माने शब्दोच्चारण का भेद होने पर और लिपि का भेद होने पर भी अक्षर एक ही होता है अब ये हुआ दृष्टांत अब इसका दार्ष्टान्त देखो दार्ष्टान्त क्या है कि नीम की पत्ती और नीम का फूल और नीम का फल जुदा होता है और आम की पत्ती और आम का फूल और आम का फल ये जुदा होता है ये सब कैसे है कि लिपि के समान है बोला और खाने का जो स्वाद है सब में है ना वो जुदा जुदा और शरीर पर जो गुण करता है सो भी जुदा जुदा नाम सबका जुदा जुदा सकल सबकी जुदा अंगूर अंगूर का नाम भी जुदा रूप भी जुदा उसका गुण भी जुदा उसका स्वाद भी जुदा लेकिन एक उसमें अक्षर तत्व है जो हजारों आम हुए तो सब में एक है और हजारों आम अंगूर इमली और आंवला इकट्ठे हुए तो सब में एक है वो नाम बदलने से रूप बदलने से गुण बदलने से बदलता नहीं है स्वभाव बदलने से बदलता नहीं है वो गुण बदलने से बदलता नहीं है वो सब में एक है उसी को बोलते हैं अक्षर वो बना रहता है वो अनेकता में एक है सो अक्षर है अनेक लिपि में अनेक उच्चारण में है अनेक वर्ण में अनेक वर्ण में अनेक जाति में जो एक है सो अक्षर है बोले भाई ऐसे तो बहुत से अक्षर निकलेंगे नहीं बहुत से अक्षर नहीं जो आखिरी अक्षर होवे माने जिस तत्व के बिना दूसरा कोई तत्व होवे ही नहीं परमम परमम अक्षरम वैसे अनेक रूपों में क भी रहता है और अनेक रूपों में आ भी रहता है लेकिन वो परम तत्व जो सब चीजों के बदलने पर भी बदलता नहीं है उसका नाम अक्षर नक्षरती जो झरता नहीं उसका नाम अक्षर अब देखो दूसरा इसका अक्षर शब्द की विपत्ति महाभाष्यकार ने पतंजलि ने बड़ी अद्भुत थी एक ही विपत्ति दी है अश्नुते इति अक्षरम जो सब में व्यापक होए उसका नाम अक्षर है जो सब में व्यापक होए सब में रहे उसका नाम अक्षर बोले भाई अक्षर तो आकाश भी है तो ये प्रश्न आया गार्गी ने वृदारण्य को परिषद में बताया जब उनसे ब्राह्मणों ने पूछा कि गार्गी ये आकाश किसमें ओतप्रोत है जाग्ञ बल्क ने याज्ञ बल्क ने गार्गी को बताया ए तद वही तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदंती स्थूलम अनणु अरस्वम अरे गार्गी ब्राह्मण लोग बताते हैं कि ये अक्षर है जो स्थूल नहीं है अणु नहीं है एक व अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृत तिष्ठता उसी अक्षर के प्रशासन में गार्गी का बड़ा विचित्र उपाख्यान है वो उपनिषद में गार्गी से पूछा क्या आओ गार्गी अब हम सन्यास लेने वाले हैं तुम्हें धन संपत्ति दे दे बंटवारा कर दे गार्गी ने कहा महाराज ये तो बताओ कि जो धन संपत्ति हमको हिस्से में मिलेगी उससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी मोक्ष मिलेगा कि नहीं परमात्मा मिलेगा कि नहीं जाग्ञ बल्कि ने साफ कह दिया अमृतत्व से तू नाशास्ती वित्ते न धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती नारा तो गार्गी ने कहा हाथ जोड़ लिया ये ना हम नामृतास्याम किन न कर जाओ जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती वो चीज लेकर मैं क्या करूंगी तो उन्होंने बताया कि एक अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधित तिष्ठता सूर्य को पकड़ रखा है आसमान में उसी अक्षर ने चंद्रमा को पकड़ रखा है आसमान में उसी अक्षर ने सारी सृष्टि को पकड़ रखा है उसी अक्षर ने अब गार्गी ने पूछा कि आकाश किसे तो सब आकाश में है बोले आकाश किसमें है तो उन्होंने बताया ये तस्मन ये तस्मिन कलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च आकाश जैसे सूत में कपड़ा ऐसे जिस अक्षर तत्व में ये आकाश रहता है उसका नाम अक्षर तो बोले और कोई अक्षर होवे अक्षर तो ओंकार को भी बोलते हैं और अक्षर तो केवल प्रकृति को भी कभी कभी बोलते हैं तो यहाँ भगवान किस अक्षर को ब्रह्म बता रहे हैं तो ये बता बात आई कि यहाँ पुरुषोत्तम को ही ब्रह्म बता रहे हैं बना मतलब ये बात समझ लो अक्षरम ब्रह्म परमम क्षर से विलक्षण और अक्षर से भी उत्तम जो है उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं ये बात आपने पंद्रहवें अध्याय में पढ़ी है जस्मात क्षरमती तो हम अक्षरादपि अतोस्मी लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमा तो क्षर अक्षर दोनों से जब विलक्षण है तो यहाँ तो अक्षर को ब्रह्म बताते हैं बोले यहाँ अक्षर को ब्रह्म नहीं बताते हैं परमम अक्षरम ब्रह्म परम अक्षर को ब्रह्म बताते हैं बोला अक्षर परम अक्षर कौन हुआ का जो अक्षर से श्रेष्ठ हो सो परम अक्षर तो पुरुषोत्तम को ही ब्रह्म बता रहे हैं माने पुरुषोत्तम ही ब्रह्म है इसका अर्थ यह हुआ पुरुषोत्तम ही ब्रह्म है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ये कौन और परम ब्रह्म है परम नारायण अक्षरम ब्रह्म परमम उपनिषद में ऐसा प्रसंग आया है कि एक होता है अक्षर जो सबका कारण होता है और एक उससे भी परे होता है अक्षरात परतः पर कठोपनिषद में आया परतः अक्षरात पर सबका कारण है अक्षर और उस अक्षर से भी परे जो है वो ब्रह्म है तो वो जो परम अक्षर है प्रकृति मंडल से परे माया मंडल से परे सबकी कारणता से परे जो वो परम अक्षर तत्व है उसी का नाम ब्रह्म है कर्म से जिसको कोई पा नहीं सकता उपासना की जहां तक ध्यान की जहां तक गति नहीं बुद्धि जिसको विषय नहीं कर सकती है? और सबको जानने वाला साक्षी भी है ना अविद्या के बसवर्ती हो करके जिससे अपने को अलग मान रहा है हो हाँ, असल में वही है तो उसका नाम परम ब्रह्म है नारायण अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते ये ब्रह्म शब्द जो है ये कभी कभी जो बड़े कट्टर भगत लोग होते हैं ना वो जरा ब्रह्म शब्द का बहिष्कार करते हैं वो कहते हैं कि हमको तो बाबा ये ब्रह्म शब्द जो है हमारे मुंह में समाता नहीं है जरा बोलो तो बड़ा मालूम पड़ेगा है ना हमारा तो सीधा सीधा कोई राम हो कोई श्याम हो है ना कोई शिव हो तो बोलते हैं ये ब्रह्म शब्द हमारे मुंह में अटता नहीं हाँ बोलने में जरा भारी शब्द है ना ये क्योंकि ब्र भी संयुक्त अक्षर है गुरु है और माँ भी गुरु है संयुक्त अक्षर है तो ब्रह्म बोलने में कुछ थोड़ा मुंह फूल जाता है <laughs> परंतु ये विचार करना चाहिए कि ये जो उपनिषद है ना उनको सब आचार्य प्रमाण मानते हैं शंकराचार्य रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य मध्वाचार्य निम्बारकाचार्य सब उपनिषदों को प्रमाण मानते हैं और उपनिषद में उसी परमात्मा का नाम ब्रह्म है यदि ब्रह्म शब्द का बहिष्कार कर दो तो किसी आचार्य के अनुजाई नहीं हुए तुम मैंने उपनिषदों में परमात्मा का नाम भगवान का नाम ब्रह्म है और उस सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म को ये नहीं कहते कि ये किसी दूसरे का वर्णन है अच्छा देखो ब्रह्म सूत्र जो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है इस पर अणुभाष्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का है बोला अब वो ब्रह्म माने क्या होता है ब्रह्म माने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वो कहते हैं ब्रह्म माने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है ना निम्बारकाचार्य ब्रह्म का अर्थ करते हैं क्या है ना साक्षात नारायण पुरुषोत्तम वासुदेव श्री रामानुजाचार्य जी ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ करते हैं नारायण है तो अब बताओ कि जब सब आचार्य ब्रह्म शब्द का अर्थ अपना अपना इष्ट देव ही करते हैं तो ब्रह्म शब्द को अगर तिरस्कार की दृष्टि से देखोगे तो अपने आचार्य और अपने संप्रदाय की मान्यता का ही तिरस्कार हुआ कि नहीं तो बोले भाई ये ब्रह्म शब्द का फिर आखिर तिरस्कार कौन करते हैं तो तिरस्कार फनन्य लोग जो होते हैं ना वो करते हैं बोला हाँ। वो फनन्य लोग कौन से होते हैं है ना जैसे श्री रामानुजाचार्य महाराज विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के आचार्य हैं अब उसमें कोई बहुत रसिक जो निकल जाएंगे ना अवान्तर संप्रदाय जो निकल जाएगा श्री निम्बारकाचार्य तो ब्रह्म शब्द की व्याख्या करेंगे लेकिन हरिदास जी महाराज ब्रह्म शब्द को बचा जाएंगे बोला निम्बारकाचार्य जी महाराज तो ब्रह्म शब्द का बड़ा भारी आदर करेंगे पर हरिव्यास देव जी जब महावाणी लिखेंगे तो उसमें ब्रह्म शब्द को बचा करके ब्रह्म पार ब्रह्म शून्य महाशून्य है ना वो अलग हो जाएंगे <laughs> तो मूल आचार्य से जब आदमी अलग हो जाता है तब वो वेद कितेब का तिरस्कार करता है और वेद कितेब का जब तिरस्कार करता है तब वो ब्रह्म शब्द का अनादर करता है जब तक वेद का आदर है जब तक अपने आचार्य का आदर है जब तक अपने संप्रदाय का आदर है तब तक ब्रह्म शब्द का तिरस्कार नहीं किया जा सकता ये तो अपने इष्ट देव का ही नाम है बोला अपने अपने इष्ट देव का नाम ब्रह्म है ब्रह्म माने सबसे बड़ा बोले महापुरुष तो सब है पर अपना गुरु सबसे बड़ा है ना परमा पर ब्रह्म परमात्मा तो सब हैं परंतु अपना इष्ट देव सबसे बड़ा है बोले मंत्र तो सात करोड़ हैं उनमें से अपना मंत्र सबसे बड़ा है बोला अपना मंत्र सबसे श्रेष्ठ मन नाथ श्री जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मेरे गुरु जगत गुरु है और मेरा जो इष्ट देव है वो जगत का स्वामी है उसी का नाम ब्रह्म है बना तो अक्षर शब्द जो है उसका वाचक है अव्यक्तो क्षर इत्युक्त तामाहु परमाम गतिम गीता में आया ना अव्यक्तो क्षर इत्युक्त तामाहु परमाम गतिम ये अव्यक्त अक्षर परम गति रूप है परमात्मा का ही नाम है ये इसलिए श्रीमद् भागवत में इसका निर्णय बड़े ही अच्छे ढंग से किया बदंती तत्व विदा तत्व जज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मे भगवान इति शब्दते एक अद्वय तत्व है हो अद्वय माने जिसमें जानने वाला और जाना जाने वाला ये दोनों जिसमें अलग नहीं होते हैं उसका नाम होता है अद्वय तत्व ज्ञान स्वरूप साक्षात वही ज्ञान स्वरूप तत्व है और उसी ज्ञान स्वरूप अद्वय तत्व को वेदांती लोग ब्रह्म कहते हैं योगी लोग परमात्मा कहते हैं और उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं ब्रह्म और भगवान दोनों एक ही वस्तु का वाचक शब्द है जुदा जुदा नहीं अब स्वभावोध्यात्म मुच्यते हाँ इसलिए ब्रह्म शब्द सुन के घबराना नहीं हाँ अपने प्यारे का नाम ब्रह्म है एक महात्मा थे वो गिन के बताते थे वो गिन के जैसे क से लेकर के स तक अक्षर गिन जाओ बोला सीताराम है और अ से लेकर ई तक गिन जाओ और आ, क से लेके त तक गिन जाओ है और फिर अ से लेके आ तक गिन जाओ तो सीता हुआ ना इसको गिन के देखना कभी बहुत मजा आएगा और क से लेके र तक गिन जाओ अ से लेकर आ तक गिन जाओ और प, और क से लेके म तक गिन जाओ माने वर्ण गिनने हो तो क से शुरू करो और स्वर गिनने हो तो अ से शुरू करो तो सीताराम में 108 गिनती निकलती है बोला 108 की गिनती निकलती है क से लेकर के स तक उधर और क से लेकर के रा तक इधर क से लेकर माँ तक क से लेकर के त तक और ई और आ इसी तरह से राधिका कृष्ण का गनो ना तो उसमें भी एक सौ आठ ही निकलता है हाँ राधिका कृष्ण भी बिल्कुल एक सौ आठ अरे जुगल जुगल और ब्रह्म अकेले ही एक सौ आठ पड़ता है बोला <laughs> हाँ ब्रह्म जो है ब्रह्म अकेले ही एक सौ आठ पड़ता है क्योंकि ये दो जुगल इसमें है ना एक ब और एक र और एक ह और एक माँ ये दो जुगल अक्षर होने से ब्रह्म अकेले ही एक सौ आठ पढ़ता है और वो लोग मैं अपनी अपनी श्रीमती के सहित एक सौ आठ पढ़ते हैं बोला तो, <laughs> तो देखो क कबर्ग के पांच है ना और चबर्ग के पांच दस हो गया ना चबर्ग के पांच पंद्रह और तबर्ग के पांच बीस है और प फ तीन ये हुआ तो तेईस हो गया ना ब और र को गिनो तो पच्चीस है ना क्या है ब्र ना या र दो और सताइस सताइस और तेईस कितने हो गए पचास अब हा और माँ को गिन लो बोला इसी तरह से हा और माँ को गिन लो बोला तो पच्चीस और आठ हा जो है ना हा जो है वो तैतीस हुआ हो क से लेकर के पांच वर्ग जो हैं वो पच्चीस और या रा ला वा सा खा सा आठ ये होते हैं बोला तो ये तैतीस हो गया हा और माँ कितना हुआ पच्चीस पच्चीस और तैतीस कितना हो गया है ना हा ऐसे महाराज ये ब्रह्म अकेले ही एक सौ आठ होता है और सीताराम इसीलिए देखो ब्रह्म ब्रह्म जो करने वाले हैं ना वैसे ब्रह्म का जप केवल ब्रह्म नाम का जप नहीं किया जाता है बोला सोहम का जप करते हैं अहम ब्रह्माष्टमी का भी कोई कोई जप करते हैं परंतु ये तो विचार के द्वारा जानने की वस्तु है बोला और सीताराम सीताराम सीताराम ये तो ध्यान करने की और जप करने की वस्तु है बोला हृदय में बसाने के लिए सीताराम हृदय में बसाने के लिए राधे श्याम हाँ, ये ज्ञान के बाद भी रहते हैं जाते थोड़े हैं और जानने के लिए ब्रह्म अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते अभी अध्यात्म क्या है वो मैं गिन के नहीं बताता हूँ कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये गिनती सुनाने लग गए है ना वो तो जैसे नौ का पहाड़ा सुनाने लगते हैं ना वो ऐसा हो गया तो पर ये बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी संख्या एक सौ आठ होती है इसीलिए एक सौ आठ उपनिषद एक सौ आठ माला है ना माला के दाने जो होते हैं ना माला माला के दाने एक सौ आठ वो सब ब्रह्म रूप ही है ये माला जो एक सौ आठ दाने की है वो ब्रह्म रूप है हाँ, उपनिषद एक सौ आठ ये ब्रह्म रूप है स्वभाव ध्यात्म उच्यते अब स्वभाव की बात करते हैं ये भगवान का स्वभाव माने स्वस्वरूप है स्वभाव माने स्वस्वरूप अपना स्वरूप वो क्या है वो अध्यात्मा इसी शरीर के भीतर जो जीवात्मा है ये भगवान का अपना ही स्वरूप है दूसरा नहीं आत्मनि इति अध्यात्मम जो इस शरीर के भीतर रहे उसका नाम होता है अध्यात्म तो शरीर के भीतर प्राण भी रहता है शरीर के भीतर इंद्रियां भी रहती हैं शरीर के भीतर मन बुद्धि भी रहते हैं लेकिन ये सब तो शरीर ही है शरीर के भीतर कहाँ है है ना प्राण भी शरीर है इंद्रियां भी शरीर है मन भी शरीर है बुद्धि भी शरीर है ये तो शरीर है इनके भीतर जो शरीरी आत्मा बैठा हुआ है हाँ, उसको बोलते हैं अध्यात्म और वो कौन है बोले भगवान का स्वभाव है एक बार भगवान अकेले ही बैठे थे आप जानते हो ब्रह्म तो खास करके अकेले ही बैठता है ब्रह्म के पास तो कोई हंसी खेल के लिए है ना मनोरंजन की कोई सामग्री ही नहीं है लेकिन कुछ अखरता नहीं है ये नहीं समझना कि आ, अकेले में सुना सुना लगता होगा यानी सुना सुना नहीं लगता है सच्चिदानंद गान है ना ब्रह्म बड़ा मजा रहता है बड़े मजे में ब्रह्म रहता है सच्चिदानंद घन रूप से बैठा रहता है खूब आनंद आनंद में ऐसा आनंद ऐसा आनंद कि उससे बड़ा आनंद कोई यही नहीं ब्रह्मानंद जो है वो सब आनंदों की चरम सीमा है कि ये बात उपनिषद में बताई गई है संपूर्ण प्राणियों में मनुष्य का आनंद श्रेष्ठ है मनुष्यों से फिर पितरों का आनंद श्रेष्ठ है फिर देवता श्रेष्ठ है ये सब आनंद करते करते आनंद की जो चरम सीमा है आखिरी स्थिति है उसको ब्रह्मानंद बोलते हैं उसमें मैं मैं तुम तुम यह यह वह वह कुछ नहीं अकेला बिल्कुल कैवल्य केवल का अकेला बन गया है हिंदी में हो संस्कृत का जो केवल शब्द है ना कैवल्य हाँ, वही हिंदी में अकेला बना है तो ब्रह्म के मन में एक ख्याल आया उसने कहा कि मैं तो अनंत आनंद स्वरूप हूं तो अब तो मेरा आनंद न घट सकता न बढ़ सकता बोले न घटे न बढ़े तब क्या जुक्ति करी जाए कुछ तो खेल होना चाहिए ना तो खेल कैसे होगा बोले अच्छा आओ एक ऐसी युक्ति करें कि अनंत होने पर भी वृद्धि हो तो अनंत में वृद्धि कैसे होगी अनंत में तो बढ़ना हो ही नहीं सकता अनंत में क्योंकि जिससे बड़ा कोई हो वो अनंत ही नहीं अनंत बढ़ नहीं सकता तो भगवान ने कैसे क्या किया स्रोत अनंत भगवान ने कहा कि अच्छा आनंद तो नहीं बढ़ सकता ये अनंत है लेकिन अकेले मैं ही ले रहा हूं ना ये आनंद यदि इस आनंद को लेने वाले बहुत सारे हो जाएं और सब पूरा पूरा आनंद ले है ना समझो कि कोई दूध का समुद्र होवे और पीने वाला एक होवे छक रहा हो पी के ठीक है अब वो तो अकेला तो ज्यादा पी नहीं सकता और वो आनंद दूध का समुद्र बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन पीने वाले बहुत से हो जाए तब क्या होगा आनंद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा तो परमात्मा ने यह निश्चय किया कि मैं ब्रह्मानंद स्वरूप परमानंद स्वरूप इस आनंद को लेने वाले बहुत से हो जाए तो जब उसके मन में आया कि इस आनंद को लेने वाले बहुत से हो जाए तो उसका जो संकल्प है ना वो ना ना अंतकरण के रूप में प्रकट हो गया उसी का नाम है ना अब उसी अंतकरण पर बैठ करके परमात्मा अपने परमानंद का है ना जैसे एक करोड़ जीवन मुक्त हो गए समय लो एक ईश्वर है एक जीवन मुक्त है और ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है तब भी ब्रह्मानंद अनंत ही है और करोड़ जीवन मुक्त हो गए और करोड़ों ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं तो कोई ब्रह्मानंद बट गया कि बटा नहीं परंतु अनुभव करने वालों के अधिक हो जाने के कारण है ना उसकी अनुभूति में एक उल्लास इसको कहते हैं एक मौज एक तरंगायमान स्थिति जैसे हो गई एक ही परमात्मा कोटि कोटि जीवन मुक्तों के अंतकरण में बैठ करके अपने ही ब्रह्मानंद का अपने ही ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है न तो परमात्मा जुदा है न वो अंतकरण जुदा है न वो जीवन मुक्त जुदा है हाँ। फिर बोले भाई एक ही तरह का आनंद सब जीवन मुक्तों को आता है तो कुछ है ना ये कई तरह की चीज जरा कुछ चटपटा मसाला भी तो चाहिए ना तो थोड़ी खटाई भी चाहिए थोड़ी मिर्च भी चाहिए थोड़ा नमक भी चाहिए है ना तो ये जो संसारी लोगों को जो दुख होता है ना ये दुख उसमें मिर्च है खटाई है नमक है और परमानंद स्वरूप परमात्मा जीवन मुक्तों के रूप में प्रकट होकर के अपने अनंत अनंत ब्रह्मानंद का आस्वादन कर रहा है तो ये क्या है बोले स्वभाव ध्यात्म उच्यते कि ये कोई कर्म से पैदा हुआ बोले नहीं ये भगवान का स्वभाव है भगवान का स्वभाव क्या है तो देखो एक चेतन का स्वभाव ये ये बात जल्दी ध्यान में नहीं बैठती है वो जिनको प्रक्रियाओं का साक्षात्कार हो जाता है ना परमात्मा चेतन है देखो तो चेतन उसको कहते हैं कि जो अपने को प्रकाशित करने के लिए तो जिसको किसी दूसरे की जरूरत ना हो स्वयं प्रकाश हो और दूसरे को प्रकाशित करे उसका नाम चेतन होता है बोला तो अब ये चेतन स्वरूप परमात्मा अकेला और इसको प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं बोला किसको प्रकाशित करे एक पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय न मैं न तुम प्रकाशित किसको करे तब क्या हुआ बोले स्वयं प्रकाशक और स्वयं प्रकाश वही प्रपंच के रूप में वही परमात्मा है ना ये सब वैष्णवाचार्य मानते हैं हो वैष्णवाचार्यों का सबका बिना मतभेद के सिद्धांत है कि जीवात्मा के अहम के रूप में और जगत के इदम के रूप में एक जो मूल ब्रह्म तत्व है वही प्रकट हो रहा है बोला अहमर्थ भी ब्रह्म है और इदमर्थ भी ब्रह्म है शंकराचार्य तो ऐसे प्रतिपादन करते हैं ना कि इदमर्थ जो है वो मिथ्या है है ना और छोटा अहम अर्थ जो है वो भी मिथ्या है वो भी प्रपंच है और अहम का जो सच्चा अर्थ है वो ब्रह्म है और ब्रह्म दृष्टि से दूसरा कुछ नहीं है अद्वैत ब्रह्म है और उपासना के आचार्य लोग प्रतिपादन करते हैं कि जो कुछ अहम इदम के रूप में व्यवहार काल में है वो भी परमात्मा का स्वरूप ही है बोला हाँ। माया वाया नहीं है माया नहीं है अविद्या नहीं है छाया नहीं है ऐसे वर्णन करते हैं तो अब देखो ये स्वभाव अध्यात्म उच्चते का क्या अर्थ हुआ क्या आनंददायक प्रसंग है ये कि एक ही सत्ता हाँ, एक ही सत्ता प्रकाशक भी है और प्रकाश भी है एक ही चेतन प्रकाशक भी है प्रकाश भी है एक ही आनंद जो है वो प्रकाशक भी है और प्रकाश भी है इसका अर्थ ये हुआ कि भोक्ता भी वही और भोग भी वही ज्ञाता भी वही और ज्ञेय भी वही हाँ। और कर्ता भी वही और कर्म भी वही उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं बोले ये कैसे ये सब वही कैसे हो गया बोले स्वभाव अध्यात्म ये चेतन वस्तु का स्वभाव ही है कि अपने आप को ही जानने वाला और जाना जाने वाला है ना करने वाला और किया जाने वाला भोगने वाला और भोगा जाने वाला सब रूप में प्रकट करना ये चेतन का अपना स्वभाव ही है ये सृष्टि क्या हो रही है ये जीवात्मा क्या हो रहा है कही ये परमात्मा का स्वभाव है अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता ये जो इतना बताते हैं ना सब परमात्मा है इसका अर्थ यही होता है कि राग द्वेष मत करो भला इसका कुल का व्यावहारिक तत्व की दृष्टि से तो सब ब्रह्म है ये अर्थ है और व्यावहारिक इसका अर्थ यह है कि अपने दिल में जलन मत बसाओ अगर तुम किसी से द्वेष करते हो तो जिससे द्वेष करते हो वो भी ईश्वर है, हैं? ईश्वर से ही द्वेष करते हो और जिस अंतकरण में द्वेष को बसाते हो वहां भी ईश्वर बैठ करके जलन का तो आश्रय हो रहा है एक लकड़ी एक मसाले में मसाल में आग लगे आग लगा लो मसाले में मसाल में मोमबत्ती जला लो और उस मोमबत्ती की जो लौ है वो दूसरे से छुआओ तो मोमबत्ती तो जलेगी ही जो दूसरा जिसको छुआओगे वो भी जलेगा तो ये द्वेष की आग जिस दिल में प्रज्वलित होती है उसको भी जलाती है और जिसके साथ छुआई जाती है उसको भी जलाती है और जब तुमको ये ज्ञान होगा कि दोनों जगह ईश्वर ही दुख पा रहा है दोनों जगह ईश्वर ही दुख पा रहा है दोनों जगह वही बैठा है, है? तो प्रद्विषंतोभ्यसूयका भगवत गीता में आया ना हाँ। माम अन्य पर देहेशु प्रद्विषंतोभ्यसूयका हाँ। अपने देह में भी आत्म पर देहेशु प्रद्विषंतोभ्यसूयका अपने देह में भी द्वेष करके हम ईश्वर को जलाना चाहते हैं और दूसरे के शरीर में बैठे हुए ईश्वर से द्वेष करके उसको वहां जलाना चाहते हैं तो सब ईश्वर है ये कहने का अर्थ हुआ सबके घट में साई रमता कटुक बचन मत बोल रे का पट खोल रहे दोहे तो पीओ मिलेंगे हाँ, का पट खोल रहे सबके हृदय में वही ईश्वर बैठा हुआ ओम शाह